कि जाओ मेरे सदगुरु ने बलियारी दया करी जीव तार लिया बंधन काट किया जी मुक्ता सारी विपत निवारी बाणी सुनता प्रेम सुख बुझ दुर्मत गई हमारी करम भरमरा सांसा मेटिया दिया कपाट उगाड़ी माया ब्रह्म का भेद समझ आया सो हम लिया विचारी आदि पुरुष घट अंदर देखा दायन दूर बिडारी जाओ मेरे सतगुरु ने बलिया दया करी मेरे सदगुरु दाता अब के लिया उबारी भव सागर में डूबत तारा ऐसा परोपकारी जाओ हमारा सतगुरु ने मलियारी गुरु दादू के चरण कमल पर मेलो शीस उतारी और क्या ले आगे राखो सुंदर भेंट तुम्हारी तो भाई बहनों सतगुरु की महिमा है तो संत महिमा में क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब हे कबीर परमेश्वर से भी संत बड़े और पापा का उन्मान हरी माया आगे धरे संत रहे निर्वाण सागर से तार के और ले जावे बहुजीव साधु खेवट सतपुरुष के पार मिलावे पीव